ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवापुंसस्तनुभिर्दशेमदेवहितं यदा अथर्वेदीय मांडू के कार्य का वैतथ्य प्रकरण के उन्नीस नंबर के कार्य का तो कुछ विचार हुआ जिसमें इस उन्नीस नंबर के का में कहा जितने भी लोग कल्पना कर रहे हैं इसी आत्मा में कल्पना कर रहे हैं प्राणादि भी अनंत भाव रहते कल्पिता प्राणादि शब्दों से अनेक शब्दों में कहते हैं लोग कोई कहते हैं प्राण ही सत्य है हिरण्य गर्भ या ईश्वर प्राण समझ बात कोई कहते हैं भूत ही सत्य है पंच ये चार भूत चार बार कोई कहते हैं गुण ही सत्य है इत्यादि वो कुछ कल्पनाएं दिखाएंगे यहाँ लोगों की कल्पना क्या क्या है और जो जो कल्पना जिसके ऊपर में जिस आचार्य ने जैसा दे दिया होगा उसी को पकड़ करके एक पंख बना लेता है दूसरे पे जाने के तैयार नहीं होगा इतने दृढ़ता उसने करके बैठ जाता है ये सब बातें चर्चा करेंगे तो ये जो प्राणादि अनंत भाव से जो विकल्पित जगत दिख रहा है असल में ये सब देवस्य माया ये माया है उसकी जैसे जादूगर कुछ दिखाता है वो जादूगर की माया है ठीक इस प्रकार उस आत्मदेव की माया है ये जो भी दिख रहा है किंतु उसी को सत्य मान करके लोग चल रहे हैं कौन कौन लोग किसको सत्य मानते हैं मैंने अधिष्ठान को भूल करके कल्पित पदार्थ को सत्य मान करके चल रहे हैं लोग भ्रमित हो रहे हैं ये कहना चाहते हैं ये आगे कहा है ठीक है हमें देखें केते प्राणादयो अनंता भाव कौन है तो पूर्व कारिका में कहा था प्राणाद भी अनंत भाव ही रहते विकल्पिता इत्यादि विकल्पित आत्मा है कहा था तो कौन है प्राणादि अनंत भाव क्या है माने संख्या में अनंत है अनंत का अर्थ संख्या में चित्त है दुनिया में बहुत सारे विषय अलग अलग मान के बैठे हुए हैं लोग यही सत्य है यही सत्य है ऐसा करके चल रहे ते के प्राणादय अनंता भाव वो कौन है ये प्राणादि अनंत भाव विषय यही आत्मा विकल्प से जिन विषयों के माध्यम से आत्मा विकल्पित होता है तब तक रूप दिखाई पड़ रहा है वो तो कौन है यही भाव ही आत्मा विकल्प थे जिन विषयों से आत्मा विकल्पित हो रहा है तो माया की अपेक्षायाम विकल्पते माया यही आत्मा विकल्पते माया जिन भावों से ये विकल्पित हो जाता है तद्रूप दिखाई पड़ता है आत्मा माया के माध्यम से कहा ऐसी अपेक्षा होने पर कौन है पदार्थ वो ऐसी अपेक्षा होने पर प्राणादि विकल्पना उदाहरती प्राणादि जो विकल्प है उसी को दिखाई विकल्प ने दिखाई पड़ना जैसे रज्जु में सर्व भाषण उस प्रकार है सच्चिदानंद आत्मा किसी को प्राण दिख रहा है किसी को भूत दिख रहा है किसी को गुण दिख रहा है इत्यादि उसी को सत्य मान रहा है कल्पित सत्ता नहीं मानता वास्तविक सत्ता मान के चलता है ये कहना है उदाहरण दिया कार्य क्या है प्राण इति प्राण विदो भूता नीति तद विद गुणा इति गुण विदास्तत्वा नीति तद विद भूतानी च गुणा गुण विदस्तवानी च वेदांत के माध्यम में एक ही आत्मा है सचिता आत्मा एक ही है जो सर्व सर्वकल्पना का अधिष्ठान भूत है किंतु उसमें प्राणादि अनंत भाव से विकल्पित दिख रहा है जैसे रज्जु माया से अनेक रूप में दिखाई पड़ती है उसी प्रकार वो परमात्मा अनेक रूप में दिखाई दे रहा है उन रूपों को सत्य मान करके लोग चल रहे हैं जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्प आदि को लेकर जब तक दिखता है सत्य मानते हैं ऐसे सत्य मान के चलते हैं कौन है प्राण इति प्राण विधा जो प्राण के उपासक हैं हिरण्य के उपासक हैं उसको प्राण मानते हैं सच्चिदारण आत्मा को नहीं मानते जो भाष रहा है वही मानते हैं प्राण इति प्राण विधा या प्राण शब्द का अर्थ दो है या तो हिरण्य गर्भ है या सबल आत्मा है जगत का कारण आत्मा तथा प्राण ब्रह्म ब्रह्मसूत्र है आकाश स्थलिंगा तथा प्राण या दो तरह के अर्थ करेंगे टीका में दो तरह के अर्थ करेंगे या आगे कुछ कारिकाओं में मैंने बीसवें कारिका से लेकर के अट्ठाईसवें कारिका तक भाष्यकार चुपचाप है संपिंडित अर्थ कर देंगे एक ही अर्थ बताएंगे सब ऐसा है करके बता देंगे क्योंकि टीकाकार इसका कुछ अर्थ खोलने जा रहे हैं तो प्राणा इति प्राण इति प्राणविद प्राणविद का अर्थ है या तो ईश्वर उपासक है या हिरण्यगर उपासक है ये लोग प्राण करके मानते हैं उस आत्मा को मैंने रज्जु पर जो दिखाई पड़ा एक सर्प ही मानता है दूसरा उसको भूछिद्र ही मानता है तीसरा लाठी ही मानता है ऐसी स्थिति यहां है है सच्चिदानंद आत्मा किंतु प्राण के उपासक प्राण रूप से मानते हैं अधिष्ठान रूप से सच्चिदानंद आत्मा रूप से नहीं मानते कल्पित पदार्थ को सत्य मानते हैं है तो वो प्राण भी आत्मा में कल्पित है शुद्ध आत्मा में कल्पित है ये कहना है प्राण इति प्राण भूतान जो है चार वाक हैं चार भूतों को ही सत्य मानते हैं पृथ्वी चलते वायु भूत है ये सत्य है मान जगत के कारण यही है चार भूत हैं ऐसा मानते हैं विधा ये चार बार कहेंगे गुणा यदि गुणवत्त मतलब सांख्यों से पूछते हैं वो त्रिगुण है रजतम गुण तीन गुण है वही सत्य है जगत का कारण यही है दूसरा नहीं न प्राण है न भूत है खंडन करेंगे उनको वही दिखाई पड़ रहा है क्यों उनके आचार्य जी ने वो रास्ता उनको दिखाया हुआ है उस पंथ में गए तो उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं पंथवाद गुणा इति गुणविध सांख्य लोग कहते हैं गुणी है गुण का व्यक्ता जितने भी हैं तीनों गुणों के बारे में जिन्होंने विचार किया है सब गुण रजगुण तमगुण उनको गुण शब्द से मानते हैं मान कल्पित वस्तु को सत्य मान के चलते हैं तत्वानी जो तदविधा जो शैव लोग हैं शैवोपासक हैं हम लोग शैव नहीं होते हैं वास्तव में एक शैवी संप्रदाय है कर्नाटक में अभी भी मौजूद है जो लिंगायत बोलते हैं गले में शिवलिंग धारण करके चलते हैं अभी भी है कर्नाटक में है बाकी प्रांतों में तो है कि नहीं कर्नाटक में है शैव लोग कहते हैं उसको तत्वानी कहते हैं वो क्या मानते हैं आत्मा अविद्या शिव ऐसे तीन तत्व मानते हैं यही है संसार के कारण यही है आत्मा अविद्या और शिव आत्मा है और एक अविद्या है और एक शिव है ऐसा अर्थ करते हैं वही सत्य है ऐसा शैवी लोग मानते हैं टीका से देखें भाष्य तो इनके एक साथ संपिंडित अर्थ अट्ठाईसों कार्य के अनुसार कर देंगे अभी कोई भाष्य नहीं है प्राणो हिरण्य गर्भ तटस्थ ईश्वर क्या प्राण शब्द जो कहा प्राण का अर्थ हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण समस्त समष्टि सूक्ष्माभिमानी तो प्राण हो सकता है गर्भ हो सकता है अथवा तटस्थ ईश्वर तो निमित्त कारण में नैयायिकों ने माना है ईश्वर को नैयायिक वैशेषिक ईश्वर को मानते हैं जगत के निमित्त कारण से मानते हैं तटस्थ ईश्वर भी प्राण शब्द से शास्त्र में चर्चा है जब जगत उत्पत्ति के विषय में प्राण शब्द आए तो ईश्वर को लेते हैं क्योंकि ब्रह्म सूत्र में आया तथा प्राण ऐसा है सूत्र ही है जैसे आकाश स्थलिंगा थान थान पर श्रुति में आकाश शब्द आया है तो उसको क्या करते हैं उसका अर्थ ब्रह्म करते हैं भूताकाश नहीं करते जगह जगह पर विशेष स्थान में उसी प्रकार विशेष स्थान में आया हुआ प्राण शब्द वो आत्मा का वाचक होता है ईश्वर का वाचक होता है ऐसा कहा तो प्राण मान हिरण्य गर्भ प्राण शब्द का अर्थ हिरण्य गर्भ अर्थात तटस्थ ईश्वर उपादान कारण है निमित्त कारण को तटस्थ बोलते हैं जैसे कुलाल घट के लिए तटस्थ है कुलाल न होने पर भी घट रहेगा बाद में एक बार बन जाए तो किंतु मिट्टी के न रहे तो घट नहीं रहेगा तटस्थ है वो तटस्थ ईश्वर भा एक चार की टिप्पणी तटस्थ ईश्वर भा ताटस्थम ईश्वर से ताटस्थ क्या है तटस्थत्व तो क्या है ईश्वर में जीव उपादान भिन्न तुम निमित्त निमित्त मात्र जीव के उपादान कारण नहीं है माने निमित्त कारण है ऐसा है ये तटस्थ मानते हैं ये कहा अच्छा सब जगत वो तो हेतु वही जो प्राण है वही जगत का कारण है या तो हिरण्य गर्भ है वो मान सांख्य इसके ये उपासक के मत में हिरण्य गर्भ के उपासक प्राण उपासक होने के मतलब हिरण्य गर्भ है और नैयायिक वैशेषिक के मत से वो ईश्वर है प्राण शब्द वही जगत का कारण है ऐसा मानते हैं किंतु उसको सत्य मानते हैं सत्य मान के चलते प्राण विदो हिरण्य गर्भाद्या प्राणविद्ता का अर्थ है हिरण्य गर्भादि हिरण्य गर्भ के उपासक को हिरण्य गर्भ बोलते हैं क्या बोलते हैं हिरण्य गर्भ के उपासक हो गया हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ हो गया अण प्रत्यय लगा हुआ है हिरण्य गर्भ आदि जो मानते हैं प्राण शब्द से मानते हैं और वैशेषिक आदेश से कल्पना क्या प्राण शब्द का अर्थ वैशेषिक लोग भी मानते हैं ईश्वर को मानते हैं वैशेषिक नैया इत्यादि कल्पना करने का तद इदम कल्पना मात्र इनकी कल्पना मात्र ही है जो प्राण को सत्य मान के चलना हिरण्य गर्भ को अथवा ईश्वर को सत्य मान के चलना ये कल्पना मात्र है क्यों स्वतंत्र से हिरण्य गर्भ से जगत हेतु मानव हवा स्वतंत्र जो हिरण्य गर्भ होगा वो जगत का कारण प्रमाण नहीं होता कहते नहीं हिरण्य गर्भ के जो प्रचारक लोग हैं उन्होंने आगम बना रखा है शास्त्र बना रखा है वैसा कहें तो कहते हैं पौरुषेय आगम से अपौरुषेय श्रुति विरोध है श्रुति होती है अपौरुषेय और आगम होगा पौरुषेय किसी के द्वारा प्रणीत होगा पौरुषेय जो आगम होगा उसमें अपौरुषेय स्मृति के विरोध होने पर स्वार्थ मानत होगा उस आगम में अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता नहीं हो सकता इसलिए हिरण्य गर्भ कि जगत के कारण मानने में सर्व जगत मान, कारण मानने में प्रमाण नहीं मिलता ये कहा प्रमाण आगम मानेंगे तो श्रुति के साथ विरोध है इसके आगम को प्रमाण उस स्थान में माना जाएगा और दूसरी बात तटस्थ ईश्वरवाद से तो तटस्थ ईश्वरवादी है वैशेषिक नैयायिक आदि उनके यहाँ प्रमाण युक्ति भी न से प्रमाण नहीं युक्ति नहीं प्रमाण नहीं कुछ नहीं उनके पास ऐसे अपने कपो, कपोल कल्पित बातें बोलते रहते हैं प्रमाण युक्ति विहीन से प्रमाण के अधीन युक्ति न होने से अशक्य अशक्यत्व उनके बात को स्वीकार करना संभव नहीं है अशक्य है पांच और छह की टिप्पणी पौर से आगम से अपौर के विरोध है स्वार्थ को आएगा पांच में नो हिरण्य गर्भ उपासक प्रणीता नाम आगमान एवं तस् तथा मानव जगत के कारण मानने में हिरण्य गर्भ कारण मानने में तो जो गर्भ के उपासक के द्वारा प्रणीत जो आगम है शास्त्र है उनके द्वारा रचा हुआ शास्त्र है वही प्रमाण हो जाएगा ये शंका करेंगे तो कहा पौरुषेय आगम का बाद हो जाता है किसके द्वारा श्रुति के माध्यम से श्रुति कहती है एक अभिवाद द्वितीय कह रही है श्रुति विरोध होने पर उसमें स्वार्थ प्रमाण नहीं होता आगम ने कहा आगे तटस्थ ईश्वरवाद है सीधे प्रमाण युक्ति विहीन से कहा जो तटस्थ ईश्वरवाद है वैशेषिक नैयायिक आदि का निमित्त कारण मानते हैं प्रमाण रहित है प्रमाण युक्ति नहीं क्या रही है तो छह ने कहा देखो गीता में ऐसा है एक जगह भगवान ने अपना स्वरूप बताया त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र चापिमान विद्धि क्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यज्ञानम मतम त्रयोदश अध्याय का द्वितीय नंबर का श्लोक है क्षेत्रज्ञ मेरा ही स्वरूप समझो मैं ही हूं क्षेत्रज्ञ माने जीव मैं ही हूं मेरा ही स्वरूप समझो जीवत तो नहीं है मैं ही हूं मेरे में कल्पित है एक है जीव मेरे से भिन्न नहीं है कहा अभिन्न बता रहे हैं किताब इत्यादि तात्पर्य बद वाक्य अनुरोध है तात्पर्य वाला वाक्य है ये तत्परता है श्रुति के साथ में एकता दिखा रहा है अद्वैत ऐसे वाक्य के विरोध होने से जो अष्टादश अध्याय में आता है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठी ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ान मारेगा ये जो तटस्थ ईश्वर भाव है मैं ईश्वर हृदय में बैठ करके सबको घुमाता है ऐसा जो वाक्य है मैं वहां लग रहा है कि सारे जीव ईश्वर के नचाने में नजर है ऐसा लगता है किंतु क्षेत्रज्ञ चाभिमान वृद्धि के द्वारा विरोध है वो श्रुति के साथ तात्पर्य का उद्योतक है वाक्य श्रुति जो बोलते है अद्वैतम वो भी अद्वैत बताने वाला है त्रयोदश अध्याय का द्वितीय श्लोक और अष्टादश अध्याय में जो आया है वो तटस्थ बता रहा है ईश्वर भिन्न दिखा रहा है जीवों को भिन्न दिखा रहा है इसलिए ईश्वर सर्वभूतानाम इत्यादि बचसाम कल्पित भेद विषय का वो कल्पित भेद को विषय करने वाला है वो जीव ईश्वर में भेद दिखाया वहां वो कल्पित भेद को विषय करता है और दूसरी बात आत्म भिन्नत्व न जड़त्व भी है भेद साधक युक्त प्रमाण भी नहीं है और युक्ति भी नहीं कहा ना अनुमान भी नहीं कर सकते कहते हम भेद साधक अनुमान है हमारे पास वो कहेंगे भेद से सिद्ध करेंगे जीवा ईश्वर भिन्न भिन्न लक्षण जीव ईश्वर से भिन्न है क्यों भिन्न लक्षण है भिन्न शक्तिमत्वा वो सर्वज्ञ है अल्पज्ञ इत्यादि ऐसा अनुमान करते हैं वो जीव को ईश्वर से भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं या युक्ति कहते हैं यहां पर देखो आत्मभिन्न जड़त्व भी है अगर आत्मा से ईश्वर भिन्न हो आत्मा माने अपना स्वरूप स्वरूप से भिन्न हो तो क्या हो जाएगा आत्मा भिन्न जड़ हो जाएगा आत्मा और अनात्मा दो ही तो पदार्थ है अगर ईश्वर आत्मा से भिन्न हो तो जड़ हो जाएगा तो जड़त्व तो का डर रहेगा ईश्वर को भिन्न नहीं मान सकता कोई आत्मा भिन्न आत्मा भिन्न मानने से क्या होगा जड़त्व दिया जड़त्व के डर से भेद साधक युक्त जो भेद सिद्ध करने वाली युक्ति थी अनुमान थे तुम्हारे वह युक्त अनुदयाद वहां युक्ति लगा ही नहीं सकते अनुमान कर ही नहीं सकते क्योंकि ईश्वर को अगर अपने आत्मा से भिन्न मानोगे तो क्या होगा आत्मा भिन्न अनात्मा हो जाएगा अनात्मा होगा जड़ होगा तो ईश्वर को जड़ मानना तो कोई स्वीकार करेगा नहीं मानेगा नहीं इसलिए वो तुम्हारी युक्ति यहां उदय नहीं हो सकती अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता ये संक्षेप में कहा दिख करके बोल दिया अच्छा आगे टीका में कहा कल्पांतरम दर्शे दूसरे कल्प है माने चार वाकों की कल्पना है भूतानुचित ऐसा आया था कारिका में चार वाक क्या मानते हैं पृथ्वी अब तेजो बायवस तत्वानी यही वास्तविक परमार्थ वस्तु यही है जगत के कारण यही है मूल यही है कुछ चेतन चेतन कुछ नहीं यही है चार वाकों कहना है पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूत आकाश को भी नहीं मानते हो आकाश माने अभाव है वो कुछ नहीं है ये स्वभाव है वो ऐसा मानते हैं पृथ्वी अब तेजो वह तत्व यही तत्व है मतलब वास्तविक पदार्थ यही है ऐसा चार बातों का कहना है तानी चतवारी भूतानी वो जो चार भूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों जगत कारणानी जगत के कारण यही है जगत उपादान कारण यही है ऐसा चार बात मतलब सिद्धांत लोकायति कहा यह लोकायति माने लोक में जो देखे वो बोलने वाले प्रत्यक्ष प्रमाणवादी अन्य प्रमाणों को नहीं लेते हैं खाली प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रित होकर चलने वाले ये ऐसा मानते हैं चार भूत ही जगत का सार है ये जगत का कारण है ऐसा मानने तरफ कल्पना मात्र ये इनके जो चार भूतों के जगत के कारण मानना ये भी कल्पना ही है क्यों तर्क देते हैं नहीं भूतानी स्वतः सिद्धानी जड़ तो विरोधा भूत जो है स्वतः सिद्ध पदार्थ तो है ही नहीं क्यों अगर स्वतः सिद्ध जो होगा तो जड़ नहीं होना चाहिए जड़ है ये स्वतः सिद्ध जो होता है वो चेतन होता है भूत स्वतः सिद्ध नहीं क्यों जड़त्व जड़त्व विरोधा जड़त्व का विरोध हो जाएगा जड़ नहीं मान पाएंगे फिर उसको अगर भूतों को स्वतः सिद्ध मानेंगे तो नहीं भूतानी स्वतः सिद्धानी भूत स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं हो सकते चार भूत क्यों जड़त्व विरोधात जड़त्व का विरोध आ जाएगा स्वतः सिद्ध तो जड़ नहीं होता ना भी परता सिद्धा नहीं दूसरे भी सिद्ध नहीं है ये कोई वस्तु स्वतः सिद्ध होता है कोई परत सिद्ध होता है स्वतः सिद्ध तो नहीं बना सके भूतों को क्यों जड़त्व के दर से स्वतः सिद्ध क्यों जड़त्व का विरोध करता है स्वतः सिद्ध जो होगा चेतन होगा ना भी परत सिद्धानी परत सिद्ध है माने उनमें जो चारों भूत मिल जाते हैं एक विशेष विलक्षण संयोग हो जाए चारों भूतों का तो उसमें चैतन्य प्रकट हो जाता है उनका कहना यह है और चारों भूतों का जो विघटन होगा एक विलक्षण संयोग है विलक्षण संयोग विलक्षण विभाग है विभाग होगा तो चैतन्य ध्वंस हो जाएगा यानी कोई स्वर्ग जाने वाला नरक जाने वाला कोई आत्मा आदि कुछ भी नहीं चेतन नहीं ऐसे उनकी कल्पना है परत सिद्ध बोलेंगे तो उनका जो गुण उनसे जो गुण उत्पन्न होता है चैतन्य चारों भूतों का एक विलक्षण संयोग होने पर गुण पैदा हो जाता है क्या चैतन्य तो उससे सिद्ध होंगे मानना पड़ेगा उसको उससे सिद्ध मानना पड़ेगा माने अपने से पैदा होने वाले जो गुण है चैतन्य उससे सिद्ध होंगे तब वो चैतन्य जानेगा उनको ये मानना मानना पड़ेगा परता सिद्ध मानने पर तो स्वगुण से चैतन्य से स्वग्राह तत्व अयोगा अच्छा स्व माने भूत भूतों का जो जो चैतन्य है देखो नियम क्या होता है विशिष्ट में जो धर्म होगा तो विशेषण में भी वो धर्म रह जाता है भूतों का माने चैतन्य को गुण मानेंगे माने चैतन्य विशिष्ट भूत हो जाएंगे चैतन्य से युक्त होंगे तो चैतन्य से सिद्ध होने में तो चैतन्य के द्वारा ग्राह्य जो भूत होगा ग्राह्यत्व होगा तो उसमें विशेषण में भी स्वग्राह्यत्व आ जाए चैतन्य में अपने से ग्राह्य होने लग जाएगा दोष दिया स्वगुण से चैतन्य से स्वग्राहकत्व तो अपना जो भूतों का गुण जो चैतन्य है उस चैतन्य का स्वयं का ग्राहक नहीं बन सकता स्वयं चैतन्य चैतन्य के ग्राहक नहीं बन पाएगा इसलिए जैसे दृष्टांत दिया वन्यगत बनिगत औष्ण से वन्य विषय तो दर्शन है वन्य में जो उष्णता है तो बन्नी उसको विषय नहीं कर सकती उष्णता उसका स्वरूप ही है वन्यगत अग्निगत जो उष्णता है वो अग्नि विषय नहीं कर पाती उसको काष्ठादि को विषय करेगी तो कैसे तो टिप्पणी में सिद्ध करते हैं दोनों टिप्पणी दे करके परता सिद्धांत नापी परता सिद्धांत सात की टिप्पणी स्वकीय गुणवत्त चैतन्य माने स्वतः सिद्ध तो नहीं है स्वतः सिद्ध होने से जड़ का विरोध हो जाएगा जड़ है वो जड़त्व का विरोध आएगा परता सिद्ध होगा तो किससे होना है कहते अपने में पैदा होने वाले जो गुण है चैतन्य उसको विषय बन जाएंगे उससे सिद्ध हो जाएंगे भूत है करके वो चैतन्य जानेगा ये यदि कहे तो ये कहा स्वकीय गुणभूत चैतन्यात सिद्ध अपने ही जो गुण है चैतन्य चारों भूतों का एक विलक्षण संयोग हो जाता है तो विलक्षण संयोग होने पर चैतन्य उत्पन्न हो जाता है और जो विलक्षण एक संयोग जब तक रहेगा चैतन्य देखेगा यहाँ और उसका जो विभाग होगा विघटन होगा विलक्षण शब्द का विघटन हो जाएगा तो फिर वो चैतन्य समाप्त हो जाएगा ऐसे उनकी कल्पना है तो अपने ही गुणभूत गुणस्वरूप चैतन्य है उस चैतन्य से ये सिद्ध होंगे ऐसा मानोगे तो क्या होगा वो चैतन्य में आपत्ति आएगी बोलना चाहते हैं कैसे आपत्ति आएगी तो आठ की टिप्पणी में बताते हैं चैतन्य स्वग्राह्यत्व तो मानना पड़ेगा कैसे होगा तो तो कहते भूताराम चैतन्य विशिष्टत्व भूत जो हो गए चैतन्य विशिष्ट हो गए विशेष हो गए चैतन्य भूताराम चैतन्य विशिष्टत्व जो चार भूत हो जाएंगे विलक्षण समय होकर के चैतन्य आए चैतन्य विशिष्ट है उस काल में चैतन्य विशिष्टत्व ना चैतन्य ग्राह्य भूतानाम चैतन्य ग्राह्य विशिष्ट होने के कारण चैतन्य से विशिष्ट होने से चैतन्य का ग्राह्य यदि बनता है चेतन ग्राहक यदि होगा ग्राह्य भूत हो जाते हों तो विशिष्ट धर्म वृत्ति धर्म से जो विशिष्ट में रहने वाला धर्म है क्या धर्म है यहाँ ग्राह्य तो धर्म बैठा हुआ है चेतन विशिष्ट भूतों को चेतन ग्रहण कर रहा है विशिष्ट वृत्ति धर्म और ग्राह्यत्व धर्म विशिष्ट वृत्ति धर्म से विशेषण वृत्ति वृत्ति तो नहीं विशेषण में भी रहेगा वो धर्म तो चेतन में भी वो धर्म आ जाएगा स्वग्राह्य तो क्या आ जाएगा चेतन के द्वारा जो स्व विशिष्ट भूतों का ग्रहण होता है ग्राह्य होता है तो स्व का भी ग्राह्य मानना पड़ेगा यहां ग्राहक और ग्राह्य एक ही होने लग जाएगा दोष आ जाएगा ये कहा चैतन्य से अभी चैतन्य ग्राह्य तो आया तुम फिर चैतन्य में भी चैतन्य ग्राह्य तो आ ही गया क्योंकि विशिष्ट वृत्ति जो धर्म होता है वह विशेषण में भी रहता ही है विशेषण चैतन्य है तो चैतन्य के द्वारा जो चैतन्य विशिष्ट भूतों का ग्रहण यदि होता है तो चैतन्य से चैतन्य का भी ग्रहण मानना पड़ेगा तो स्वग्राह तत्व आ जाएगा चैतन्य दोष आ जाएगा तन्न युज्य ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि स्वस्य स्वग्राहक ग्राहत्व से बन्यादो अदर्शन स्वयं स्वयं का ग्राहक नहीं होता कहाँ देखा अग्नि आदि में देखा है स्वयं स्वयं का ग्राहक नहीं होता जैसे अग्नि अपने उष्णता का ग्रहण नहीं कर पाती है आगे टीका में कहते हैं अतो भूतानी जगत का त्रिणी इति कल्पना एवं तो ये जगत का कर्ता भूत है नपुंसक लेने प्रयोग किया है जगत का त्रिणी भूतानी भूत जगत के करता है चार भूत ये जो कल्पना कल्पना ही है ये कल्पना मात्र है सिद्ध होने वाला नहीं है अतः मऊ की टिप्पणी स्वतः परतो व असिद्ध तो भूत सिद्ध नहीं हो पाए स्वतः भी सिद्ध नहीं हो पाए परत भी सिद्ध नहीं हो पाए स्वतः सिद्ध नहीं हो सकते जड़त्व का विरोध आ रहा है परत सिद्ध नहीं हो पाए परत सिद्ध मांगे वही चैतन्य जो गुण पैदा होगा चारों भूतों के समय होने पर उसी से सिद्ध मानना पड़ेगा उसी सिद्ध मानने पर चैतन्य विशिष्ट का जब चैतन्य ग्रहण कर रहा है भूतों का तो चैतन्य का भी चैतन्य ग्रहण करेगा मानना पड़ेगा किंतु स्व से स्व ग्राह्य नहीं होता ये दोष है इसलिए अतः माने स्वतः परतो व असिद्धत्व स्वतः सिद्ध भी नहीं हो पाए परत सिद्ध भी नहीं हो पाए न होने से तादृश अच्छे कारणत्व अदर्शन जो स्वतः सिद्ध भी न हो परतव सिद्ध भी न हो ऐसे वस्तु में कारणत्व तो कहीं देखा नहीं है तादृश अच्छे माने स्वतः सिद्ध परतः सिद्ध दोनों का जो अभाव हो जहां वो का, वहां कारणत्व तो नहीं देखा गया इसलिए जगत का कारण भूत भी नहीं हो सकते उनकी भी तो कल्पना ही है ये कहा आगे की कारण है सत्वरजस्तमांशी तमांशी प्रयोगुणा साम्यन अवस्था जगतो महराज लक्षण कारण विधि सांख्या सांख्य लोगों का कहना है जो सतगुण रजगुण तमोगुण वो गुणवादी हैं वो गुणाई भी विदा कहा था गुणवादी है तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है माने प्रलयकालीन जो गुण होते हैं साम्यावस्था में होते हैं विक्षेप विक्षोभ नहीं होगा गुणों में सृष्टि काल में तीनों गुणों में विक्षोभ हो जाता है तब सृष्टि होती है उनके मत ऐसा है प्रधान उसी का नाम है प्रकृति उसी का नाम गुणों का नाम ही है ये नहीं कि प्रकृति से उत्पन्न गुण नहीं है वो तो गुणों को जो साम्यावस्था है उसी को प्रधान उनके भाषा में प्रधान शब्द से बोलते हैं प्रकृति शब्द से बोलते हैं और जब सृष्टि काल में होने पर उसको बोलेंगे गुण शब्द से बोलेंगे क्योंकि विक्षेप सतुगुण ज्यादा होगा रजुगुण कम होगा रजुगुण ज्यादा होगा तमगुण कम होगा तमगुण ज्यादा होगा ऐसे चलता है तभी यह सृष्टि बनती है ये कहते हैं कि सत्वरज त्रयो गुण साम्यन अवस्था जगत और बहरादि लक्षण कारण इति सांख्या सांख्य लोगों का कहना है मान्यता है सत्वरज तम तीनों गुण त्रयो गुण साम्यन अवस्था जो साम्य अवस्था में है प्रलयकालीन गुण है उनका तो अभाव होगा नहीं विषय का अभाव हो रखा है फिर उन्हें विक्षोभ होगा तो सृष्टि शुरू हो जाएगी फिर महतत्व अहंकार पंच तन्मात्रा इत्यादि होने लग जाएंगे उनके कहने से जगत का कारण ये मानते हैं ये सांख्य मानते हैं तद कल्पना मात्र ये भी कल्पना मात्र ही है सिद्ध नहीं कर पाएंगे कैसे नहीं कर सकते साम्य न स्थिता नाम कारण साम्य अवस्था में बैठे हुए गुणों को जगत के कारण मानने का जब साम्य अवस्था में जगत को कारण मानेंगे तो क्या होगा वो सृष्टि करने वाले हो जाएंगे जगत का कारण मान्य सृष्टि के समय सृष्टि है वो तो सृष्टि मानेंगे तो प्रलयाभाव तो प्रलय होगा ही जब साम्य अवस्था में भी प्रलय नहीं हो पा रहा है जगत का कारण बन के बैठा है कारण है तो कार्य होगा ना सृष्टि होगी तो प्रलय का अभाव होगा प्रलय की सिद्धि नहीं कर पाए वैषम्य भजन से निरोध नहीं नहीं है तो साम्य अवस्था में है विषमता हो जाती है ना सृष्टि काल में विक्षोभ हो जाता है साम्य अवस्था में नहीं रहेंगे कम ज्यादा हो जाएगा गुणों में तारतम्य भाव आ जाएगा तो सृष्टि हो जाएगी वैषम्य भजन से जब वो जो वैषम्य की प्राप्ति होती है उनमें सृष्टि काल में ऐसा मानते हैं सांख्य लोग तो वो जो वैषम्य की प्राप्ति है वह सदा तदा पाता वो निर्हेतु का कि सहेतु का जो वैषम्य होना सृष्टि के लिए विषम हो जाना गुणों का कोई कारण है उसका या निष्कारण है निर्हेतुकत्व कोई हेतु नहीं है उसका बिना कारण होता हो वैषम्य कोई निमित्त तो नहीं है उस स्थिति में क्या होगा सदा तथा अभाव हमेशा सृष्टि होती रहनी चाहिए फिर अगर निमित्त हो तो निमित्त के अभाव में प्रलय होगा ठीक है निमित्त नहीं है निर्हेतु गए वो तो हमेशा सृष्टि रहेगी फिर सांख्य मत में दोष आ जाएगा करते सदा तथा तत्पाद आपात ये हमेशा ही वही रहेगा सहेतु करते हेतु और नित्यत्व और सहेतु मानेंगे उसमें निमित्त है कोई जिससे कि वैषम्य हो जाता है तो सृष्टि हो जाती है ऐसा माने कोई निमित्त है निमित्त मानेंगे तो क्या होगा हेतु और नित्यत्व प्राचीन दोषात तो <clears throat> सहेतु मानने पर जो जो निमित्त होगा वो नित्य है कि अनित्य है ये भी प्रश्न आ जाएगा इनको विक्षेप होने के लिए जो निमित्त होगा वो नित्य है कि अनित्य है निमित्त हेतु तो और नित्यत्व इनका जो विषम होने के लिए जो निमित्त होगा वो नित्य है या अनित्य है नित्य मानने पर क्या होगा प्राचीन दोष अनुसंगा वही पहला दोष आ जाएगा पहला दोष क्या है प्रलय का भाव वही दोष आ जाएगा नित्य है तो नित्य ही होता रहेगा फिर अनित्यत्व अपेक्षा अगर अनित्य है वो निमित्त तो फिर अन्य हेतु उसके लिए अन्य हेतु की जरूरत होगी फिर उसके लिए अन्य हेतु की जरूरत होगी करते करते अनवस्था में चले जाएंगे एक अनित्यत्व हेतु तरापेक्षायाम अनवस्थान इत्या गुणा इति इत्यादि शब्द ने कहा था कल्पांतर अच्छा चतुर्थ कल्प बोलते हैं तत्वानिधि तो तत्विद जो शैवी लोग हैं शैव लोग वह तत्व कहते हैं आत्मा अविद्या शिव यही जगत के कारण है एक आत्मा है एक अविद्या है एक शिव है माने हमारे शिव उनके शिव में कुछ अंतर है ये हमारे शिव उनका शिव एक नहीं होता ऐसा है जैसे प्रजापति वालों का जो ब्रह्मा है ना वो अलग अलग ब्रह्मा है हमारे ब्रह्मा नहीं है वो अलग ढंग के ब्रह्मा है जो प्रजापति वाले हैं प्रजापति मत वाले हैं पंथ इसी प्रकार कल्पांतर तत्वांश तत्विदा इत्यादि का उनका कहना क्या है जगत का कारण किसको मानते हैं सही भी लोग आत्मा अविद्या शिव इति संक्षेपतः त्रीण तत्वानी तीन ही तत्व हैं वस्तु तीन है एक आत्मा है एक अविद्या एक शिव है संक्षेप में ये तीन हैं जगत के कारणभूत यही है ऐसा मानते हैं त्रीण तत्वानी सर्व जगत प्रवर्तक आने सारे जगत के प्रवर्तक यही है कारण यही है ऐसा उनका कहना है इति शैवा मानते इस प्रकार से शैव लोग मानते हैं शैव संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं वही सत्य है तीनों माने आत्मा और अविद्या और शिव यही जगत के कारण है यही मानते हैं तब भी कल्पना मात्र उनके लिए कल्पना मात्र ये तीन मानिए क्यों आत्मनो भिन्नत्व शिवस्य शिवस्य से भिन्नत्व आत्मा से शिव क्या है भिन्न है क्या अभिन्न तीन माना तुमने एक आत्मा है एक शिव है एक अविद्या अविद्या को रहने देगी अभी आत्मा और शिव में देखेंगे तो आत्मा से शिव यदि भिन्न हो आत्मनो पंचमी शिव से है शिव को आत्मा से भिन्न मानने पर दो माना तुमने आत्मा शिव और अविद्या आत्मरो भिन्नत्व शिवस्य आत्मा से भिन्न होने पर शिव को घटादि तुल्यत्व तो शिव क्या हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा घटादि के समान हो जाएगा आत्मा भिन्न अनात्मा दो ही तो है आत्मा या अनात्मा तो तुम्हारे शिवक तो चला जाएगा ये कहा आत्मरो भिन्नत्व शिवस्य अगर शिव आत्मा से भिन्न हो उस स्थिति में घटादि तुल्यत्व घटादि कैसे जड़ है कि चेतन है अनात्मा है जड़ है वैसे हो जाएगा शिव तुम्हारा प्रसंगा अभिन्न अभिन्न मानेंगे फिर दो का कथन व्यर्थ हो जाएगा आत्मा और शिव दो कहना व्यर्थ हो जाएगा अभिन्न हो तो एक अभिन्न तत्व नाम तृत्व व्याघाता फिर तृत्व नहीं जाएगा द्वित्व होगा एक आत्मा शिव तो एक ही होगा एक अभिदा दो ही होगा तो तुम्हें जो तीन करके प्रतिज्ञा थी तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि होगी तृत्व संज्ञा की व्याघात हो जाएगा विरोध हो जाएगा आगे टीका में कहते हैं एक एक से आत्मनो विश्वाद है पादा आत्मा का जो है ना एक एक करके विश्वादी पाद है विश्व तेजस प्राज्ञादि पाद है माने वास्तविक है एक व्यक्ति विश्व को ही मानता है एक तेजस को ही मानता है एक प्राज्ञ को ही मानता है हम भी मान के आए हैं ये मांडुक्य में किंतु काल्पनिक रूप से मान के आए हैं तो शुद्ध आत्मा में सभी कल्पना है किंतु वो विश्व को तेजस को प्राज्ञ को सत्य मानने वाले लोग हैं कुछ लोग यही है कोई बोलते हैं विराट ही सत्य है कोई बोलते हैं हिरण्यगर ही सत्य है कोई कहते हैं ईश्वरी सत्य है एक आत्मा विश्वालय पारा जो एक आत्मा तो एक ही है तो इनकी कल, मैंने कल्पना करते हैं उसको सत्य मानते हैं पाद को विश्वास जो पाद है विश्व तेज प्राज्ञ इत्यादि का सर्व व्यवहार हेतु भवंती सारे व्यवहार का हेतु पाद होते हैं आत्मा के पाद विश्व तेजस प्राज्ञ पाद जगत के कारण यही है इतने भी कल्पना मात्र ऐसा जो पादवादी मानते हैं ये भी कल्पना मात्र ही है ऐसा कहा क्यों निरंश से आत्मनो अंश भेद अनुपत्य है आत्मा निरंशक है निर्वय है उसके तीन अंश तुमने बनाया क्या बनाया विश्व तेजस प्राग्ञ काल्पनिक तो हो सकते हैं हमने काल्पनिक माना है जो पहले मान के आए हैं तुम वास्तविक मानते निरंश से आत्मनो अंश भेद अनुपत्या आत्मा निरंश है निर्वय है उसके अंशभेद होना तीन होना संभव नहीं है विश्व तेजस आदि होना संभव नहीं है निरंश आत्मा जो निरंश आत्मा है उसका अंशभेद अवैध भेद होना संभव नहीं अनुपत्या पाद अनुपत्य पाद ही सिद्ध नहीं होगा फिर जगत के कारण कहां से बनेंगे वो आत्मा निरंश है निर्भय है उसके तीन तीन अवय होना संभव ही नहीं है काल्पनिक तो हो जाता है किंतु वास्तविक होना संभव नहीं इसलिए जगत का कारण हो ही पादा कारिका है पादा इति पादविदो विषया इति तद्विद लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विद पादा इति पादविदो विषया इति तद्विद इति विदो देवा इति च पादा इति पादविद जो पाद के व्यक्ता है आत्मा के विश्व तेजस प्राज्ञ पाद के व्यक्ता है मैंने उसमें रिसर्च जिन्होंने किया है वो मानते हैं यही जगत का कारण है पाद ही सत्य है कहते हैं और विषया इति तद्विद जो बादशायन आदि हैं वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच को ये विषयों को भी सत्य मानते हैं जगत के कारण यही है जो कुछ है यही है शब्द स्पर्श रूप प्रश्न विषय बादशाह आदि है टीका में स्पष्टीकरण का तद विधा हमारे जो विषयों के व्यक्ता हैं शब्द स्पर्श रूप स्कंध के व्यक्ता हैं बादशाह आदि वो विषयों को भी सब तत्व तो मानते हैं जगत के कारण वही है वास्तविक वस्तु विषय है ऐसा मानते हैं और लोकायदी लोक विधा जो पौराणिक लोग है ना हाँ। भूर्भुव स्व मह जन तप सत्य अतल बितल सुतल तला रसा रसातल महातल पाताल चौदह भुवन आदि की कल्पना या तीन लोग की कल्पना ये पौराणिक होती है पौराणिक रूप ऐसा कल्पना करना लोकवेत्ता है वो उसको है सच्चिदानंद आत्मा उसको लोक रूप में मानते हैं और उसको यथार्थ मानते हैं लोक सत्य है ऐसे पौराणिकों की है ये बात लोकाय की लोक विधा जो पौराणिक लोग हैं उनका मत है लोक लोक ही सत्य है और देवा यदि तो तद रहा देवोपासक जो होंगे यही देवता ही सब कुछ है यही जगत का कारण यही है इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है कोई चेतन ब्रह्मादि नहीं है यही सत्य है ऐसा नहीं देवताओं को हम भी मानते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा व्यावहारिक सत्य है किंतु पारमार्थिक सत्य नहीं पारमार्थिक सत्य देवता भी कल्पित है आत्मा किंतु उन लोगों ने सत्य माना होगा देवायत के तरह देवोपासक जितने भी हैं तो देवताओं को ही अपने अपने देवताओं को ही सत्य मानते हैं दूसरे देवता को नहीं ये भी है अभी टीका में कुछ दिखाएंगे टीका देखिए बादशाह प्रवृत्तनाम कल्पना कथेगी बादशाह आदि जो ऋषि लोग हैं उनकी कल्पना को कथन करते हैं विषय आदि तद्विधा इसे कहा जो विषयों का व्यक्ता है शब्द स्पर्श रूप रस के बारे में जिन्होंने विचार किया है जीवन लगा दिया उसी में उसी में विचार करते करते निष्कर्ष निकाला यही सत्य है जैसे को आदि ने पूरे जीवन लगा के क्या कणाद है गौतम है क्या निकल परमाणु सत्य है यही निकाला उन्होंने निष्कर्ष निकाला इसी प्रकार विषया तर्पित कहा ठीक है आदय विषय विषय पांच ही है शब्द स्पर्श रूप का सुगंध पांच विषय है शब्दावय विषय भूयो भूयो भूज्यमान बार बार भोगे जा रहे हैं बिंदु वही विषय है जो हमारे पूर्वज भोग के गए आज हम भी वही भोग रहे हैं आगामी पीढ़ी भी उसी को भोगने भोगेगी उन्हें कोई इधर उधर नहीं होता हम बदल जाते हैं वो बदलते नहीं विषय ज्यो का त्यों है विषय में कोई परिवर्तन नहीं ज्यो का त्यों है तो शब्दावदय विषय आप भूयो भूयो भूते ने भूये बने बार बार भोगे जा रहे हैं हम ही प्रतिदिन भोग रहे हैं उसको हमारे पूर्वजों ने भी उसी को भोगा है हमारी पीढ़ी आगे जो आएगी वही भोगना है किंतु वो जो का त्यों वो कभी नहीं हो समाप्त होते रेड जी ने लिखा है भोगा न भोगता भयगे वो भोगता है कि जो विषय को भोग करने के लिए हम सोचते भोगेंगे करके तो हम ही भोग गए भोगे गए हम ही बूढ़े हो गए जाने की तैयारी हो गई वो ऐसे को ही रह गए भोगा न भुगता या तो कालो में भी आता हम कहते हैं इतने साल के हो गए इतने साल के हो गए काल नहीं गया हम समझते हैं काल चला गया समय चला गया कि तो हम ही चले गए कालो ने या तो भय में आता हम ही चले गए काल क्यों कहते हैं हमारे पूर्वज भी ऐसे गिनते रहे हम भी गिनते रहे हमारी पीढ़ी आगे पीढ़ी भी गिनेगी इतने साल इतने साल इतने साल भोगा न भुगता भय में भुगता कालो न या तो भय में गया जाता तपो न तप्तम भय में व तपता तपस्या नहीं हो कर पाए हम हम ही तपे गए तृष्णा न जीर्णा भय में व जीर्णा जो लोभ है तृष्णा है उसको माने हम खटाने का काम करना चाहते हैं उसको जीर्ण शीर्ण करना चाहते हैं तो वो जीर्ण नहीं है हम ही जीर्ण हो गए तो कहा शब्दार विषया भूयो भूयो विद्यमान तत्व तो विक्रम आत्मा तो बादशाह आदि का कल्पना है कि शब्दादि विषय जो बार बार भोगे जा रहे हैं यही तथ्य है यही वास्तविक वस्तु है ये भी कल्पना मात्र ही है क्यों देखो भाई कहीं स्मृति आदि में कहा है कहीं विशस्य विषयाणाम स दूरम अत्यंतम अंतरम उपभोक्तम विषम विषया स्मरणादी विषयानुसंधान से निंदित विषय के अनुसंधान अन्वेषण करना निंदा किया है स्मृति में क्या कहा कि स्मृति में कहा विषस्य विषयान एक तरफ विष को रखा एक तरफ विषयों को रखा दोनों की तुलना कर रहे हैं विषस्य जहर जो होता है वो और विषय होते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषस्य विषयाम विष और विषय दोनों का अंतरम अत्यंतम दूरम अंतरम भेदम इनका जो विशेषता है भेद है अति दूर है साम्य नहीं बिल्कुल साम्य नहीं है थोड़ा अंतर भी नहीं अति अंतर अंतर माने भेद अति अंतर है दूर से अंतर है इन दोनों माने बहुत कम ज्यादा है विष और विषय विष से विषयाम अंतरम अत्यंतम दूरम ऐसा हमने कहा जो अंतर माने भेद है थोड़ा थोड़ा सामंजस्य नहीं है उन्नीस बीस का फर्क नहीं है बहुत फर्क है ऐसा है उपभोक्तम विषम हंती जहर उसको मारता है उपभोक्तम विषम हंती जहर उसको मारता है जिसने उसको खाया हो जिसने विष का सेवन किया हो उसको मारता है विष का काम यह है उपभोक्तम विषम हंती विषय स्मरणारवी विषय तो चिंतन से भी मार देते हैं मन में चिंतन आ गया फैलाता गया फैलाता गया फैलाते फैलाते मर जाता है ये स्थिति शंकराचार्य जी ने भी ऐसे कहा विवेक चूड़ामणि में दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंती भोक्तारम द्रष्टारम चक्षा जहर विष और विषय की तुलना किया शंकराचार्य जी ने कहा है दोषेण तीव्रो विषय जब दोष देखते हैं विष और विषय में दोष देखते हैं तो तीव्र है ज्यादा है क्या विषय भी ज्यादा है विष की अपेक्षा जहर की अपेक्षा ये शब्द स्पर्श रूप स्कंधों में ज्यादा दोष है दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषाद छोटे मोटे जहर नहीं काले सांप का जहर को बहुत खतरनाक खतरनाक मानते हैं उससे भी ज्यादा दोष है इसमें काला सांप का जहर से भी ज्यादा खतरनाक है ये कौन विषय दृष्टांत दिया कैसे विषम निहंति भोक्ता जो विष होता है जिसने खाया उसी को मारेगा भोक्ता को ही नाश करेगा मारेगा किंतु विषम निहंति भोक्तारम दोषेण तीव्रो विषयो विषय कृष्ण सर्वविषाद विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषा पेयम अयम विषय ये विषय तो देखने वाले को मार देता देखने से भी मर जाता है देखने पर मोह हो जाएगा मोहित होने के बाद क्या क्या कांड बनेगा मरेगा ये कहा यहां विषय विषय विषयाणाम से तो जो भाषण आदि का मत है विषय सत्य है करके उसमें दोष दिखा रहे हैं विषय विषयाणाम से दूरम अत्यंत अंतरम दोनों का भेद बहुत दूर से अंतर है दोनों का उपभोक्तम विषम हंति जो जहर होता है जिसने खाया उसी को मारता है दूसरे को नहीं मारता किंतु विषया स्मरणाद अभी निहंति विषय तो चिंतन से भी मार देते हैं ऐसी स्थिति हो जाती है यदि तो विषयानुसंधान से निंदित होता है विषय का जो अन्वेषण करना है उसके लिए निंदा की है शास्त्र तेषाम पारमार्थिक तत्व अभाव भाव अनुपत्ति वो जो विषय हम जो विषय हैं पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकते काल्पनिक है पारमार्थिक वस्तु वास्तविक वस्तु नहीं हो सकते तो इनको भी वास्तविक माना नहीं होता ये कहा आगे पुराण पौराणिक की चर्चा किया लोका यदि लोक वेदा कहा था उसका अर्थ करते हैं भूर्भुवस्वर इति त्रयो लोका वस्तुभूता संतित पौराणिक पौराणिक लोग कहते हैं तीन लोक हैं भू भुव स्वर पृथ्वी है पृथ्वी से नीचे के सब आ जाएंगे अतल बीतल सुतल तल रसातल महाकल पाता और स्व से आएंगे महाजन तप सत्य ऊपर के चौदह भुवन जो मानते हैं तीन लोग के भीतर चौदह भुवन है ऐसे मानते हैं पौराणिक लोगों का कहना है भूल भुवा स्व भूलोक माने पृथ्वी भूवा माने अंतरिक्ष और स्व माने स्वर्ग ये तीनों ही वस्तुभूत हैं वास्तविक हैं सत्य हैं ऐसा पौराणिक लोग मानते हैं पुराणों में इनकी चर्चा है तद भी कल्पना मात्र उनकी भी कल्पना मात्र ही है क्यों तर्क देते हैं खान भेदे न तृत्व तद आनंद से गुरुतरत्वा ये जो तीन कहा भूर भूगोस्व तीन कहा खान भेद से भिन्न मानना है कि अभेद रूप से भिन्न मानना है खान भेद से भिन्न मानेंगे तो अनेक स्थान है ये धरती में कई लोग हो जाएंगे शहर है गांव है कस्बा है इत्यादि स्थान वेद न तृत्व तद आनंद से गुरुत्व स्थान वेद से तृत्व मानेंगे यदि ये भिन्न स्थान में वो भिन्न स्थान में वो भिन्न स्थान में इसलिए तीन है कहेंगे तो तद आनंद से माने लोग आनंद हो जाएगा आनंद लोग हो जाएंगे अभी टिप्पणी का दिखाएंगे वो स्थान वेद से तीन संख्या मानोगे भिन्न भिन्न स्थान है इसलिए तीन हो गए कहोगे तो अनंत हो जाएगा गुरुत्तर उसको उत्तर नहीं दे पाओगे स्वातंत्र से तो त्रयोलोक वस्तु स्वातंत्र से अशीतत्व स्वतंत्र रूप से लोग हो नहीं सकते हैं एक कहते तो कैसे तो स्थान भेद कृत्य एक की टिप्पणी कहा भूत समुदायत्मक लोक से देखो लोक माने क्या होता है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का समुदाय है भूतों का समुदाय है लोक धरती भी वैसा ही है अंतरिक्ष भी वैसा ही है स्वर्ग भी वैसा ही उसमें कल्पना है ये धरती ये पृथ्वी है ये अंतरिक्ष है स्वर्ग है करके भूत समुदायत्मक लोक भूत के समुदाय स्वरूप है पांच भूतों के समुदाय रूप जो लोग हैं लोक में समुदाय समुदाय ऐक्य जो समुदाय होगा वो एक होता है समुदाय अनेक हैं पांच भूत हैं किंतु समुदाय एक होगा समुदाय एक समुदाय ऐक्य समुदाय तो एक होने से एकत्व से उचित तत्व जब पांच भूतों का बना है वो भी ये भी तो एक ही मानना उचित होगा तीन तीन क्यों मानना थे खान वेद से तृत्व तो क्यों मानना वो भी भूत समुदाय है ये भी भूत समुदाय एक ही लोग मानो ना तीन लोग क्यों मानो एक भूत समुदाय लोक समुदाय ऐक्य समुदाय एक होने से एकत्व से एवं उचित एक ही मानना ठीक था फिर तीन लोग क्यों मानना वो भी भूतों का समुदाय ये भी भूत का समुदाय तो एक ही है स्थान भेदे में समुदाय भेदे स्थान भेद से समुदाय भिन्न मानेंगे ये स्थान भिन्न है वो स्थान भिन्न है वो स्थान भिन्न है वो समुदाय अलग अलग हो जाएगा समूह भी अलग होगा इसलिए तीन लोग हो जाएगा ऐसा मानोगे तो स्थान भेदे न समुदाय भेदे ग्राम नगर आदि भी लोकत्व प्रसाद गांव में तो स्थान भिन्न भिन्न स्थान है तो समुदाय अलग अलग हो जाएगा तो इनको भी लोक मानना पड़ेगा गांव है शहर है इनको भी लोक मानने की प्रसक्ति आ जाएगी इसलिए ये तीन लोग ही सत्य है करके मानना पौराणिक को कल्पना भी ठीक नहीं है कहा <clears throat> देवा तदविदक कारिका में है देवता के उपासक देवता को ही सत्य मानते हैं ये टीकावधि कहते हैं दोनों बाकी पढ़े अच्छा तद आनंद से थानानाम आनंदेना तेसाम अभी आनंदिम भाव थान आनंद हो गया शहर अलग हो गया नगर अलग हो गया भिन्न भिन्न हो जाएंगे एक ही में ये धरती में ही तद आनंद लोक आनंद हो जाएगा भूत का समुदाय भिन्न भिन्न समुदाय मान करके एक एक नाम लेना हो तो अनंत लोग हो जाएंगे तब आनंद तेसाम मत आनंद लोक आनंद का आनंद है लोग भी आनंद हो जाएंगे आगे टीका में कहते हैं अग्नि इंद्रादय देवा तत्फलदातारो नेश्वर तथा इति देवता कांगी यह जो मीमांसक आदि लोग हैं जो अग्नि है इंद्र है वरुण है कुबेर है देवता हैं तत्त फल के दाता वही होते हैं कर्म फल के दाता वही होते हैं अग्नि इंद्रादयो देवा अग्नि है इंद्र है इत्यादि देव तत्त फलदाता है जैसे जैसे उसने उपासना की होगी कर्म किया होगा उसको फलदाता है न ईश्वर है ईश्वर नहीं है ईश्वर को नहीं मानते फलदाता नहीं मीमांसक ईश्वर को नहीं मानता फलदाता नहीं तथा तथा माने फलदाता नहीं न ईश्वर तथा माने फलदाता महा इति देवता काम दिया ऐसे देवता के उपासक लोग ऐसा मानते हैं माने मीमांसक के ऊपर बोल रहे हैं तदपि कल्पना मात्र वो भी कल्पना ही है क्यों अस्मदादि प्रयत्न अनपेक्ष फलदातृत्व तेषा विशेषा विशेषाभाव प्रसंगा हमारे प्रयत्न के बिना ही फल देते हैं कि हमारे प्रयत्न को देख करके फल देते हैं देवता लोग अगर हमारे प्रयत्न को देख करके फल देना हो तो मन एक लौकिक व्यक्ति के समान हो जाएंगे जैसे एक वृत्त सेवक काम करता है तो उसके जो परिश्रम है उसको देख करके फल देता है ऐसे यहां अस्मदादि प्रयत्न अनपेक्ष हमारे प्रयत्न की अपेक्षा किए भी नहीं एकाएक फलदाता मान्य पेशा अस्मादि प्रयत्न अपेक्षा हमारी प्रयत्न को अपेक्षा करके फल देते हों तो केवल नाम वृत्तियों के विशेषा विशेष विशेषा भाव प्रसगा जैसे स्वामी सेवक में जैसा भाव होता है उसे विशेषता नहीं है स्वामी जो होता है सेवक के जैसे कर्म करता है उसके आधार फल देता है और स्वातंत्र उपकार करते हैं स्वतंत्र उपकार करेंगे ऐसा मानेंगे देवता लोग माने आप कुछ भी ना करो बिना आपके प्रयत्न फल देने लग जाए ऐसा मानो तो क्या होगा तद आराधना व्यर्थ फिर उपासना क्यों करना व्यर्थ बन जाएगा इसलिए देवता और बाजी भी ठीक नहीं एक कहा तीन नंबर की टिप्पणी अस्मदादि प्रयत्न मानपेक्ष कर्म सापेक्ष फलदात्र अगर कर्म सापेक्ष फल देने मान्य प्रयत्न मैंने कर्म है वहां फलदात्री जीव भिन्न वृत्त कल्प साधक मनुष्य फिर क्या होगा जीव से एक भिन्न है बड़ा है इतना ही सिद्ध हो जाएगा ईश्वर की स्थिति नहीं होगी देवता की स्थिति नहीं होगी वृत्त कल्प तत्व साधक वृत्त के समान एक साधक सिद्ध हो जाएगा न अद्वितीय ईश्वरवादी नाम आयु दोष है अद्वितीय ईश्वरवादी में कोई दोष नहीं आएगा ये क्योंकि हम तो एक ही मानते हैं तुमने दो मान लिया जानना आएगा आगे कहते हैं दूसरी बात यह भी है देवताओं के उपासकों के ऊपर एक, एक बात और बोलते देवता यदि सत्य हो भक्तों के झगड़ा का निपटारा कराना चाहिए भक्तों का झगड़ा का निपटारा नहीं करा पा रहे थे सबसे आज के दिन में कृष्ण भक्तों में जो झगड़ा है आपस में जो बाल कृष्ण को मानने वाला है द्वारकाधीश को नहीं मानता वृंदावन में आप जाएंगे तो पता लग जाएगा आप अभी उत्तरकाशी में बैठे हैं जो द्वारकाधीश को मानने वाले बालकृष्ण को नहीं मानता वो तो कृष्ण थोड़ी ग्वाला था वो तो कृष्ण तो होगा राजा विराज आपस में झगड़ा है एक ही देवता देवता के भक्तों का झगड़ा है वो भी निपटारा नहीं कर पा रहे ये भी यहां एक विनोद करते जा रहे हैं ठीक है तद भक्ता नाम अभी विपरीत दर्शन आए उनके जो भक्त हैं देवताओं के भक्तों में विवाद दिखाई पड़ता है विवाद दिखाई राम का भक्त कृष्ण को नहीं मानता कृष्ण का भक्त राम को नहीं मानता ऐसा तद भक्तानों में विप्रतिपत्ति दर्शनाथ उनके भक्तों में भी विवाद देखा पड़ा है इसलिए तत्प्रसाद से अकिंजित करतवा उनकी जो प्रसन्नता है अकिंत कर अपने भक्तों को भी मिला नहीं पा रहे हैं उनके जो प्रसन्नता है भगवान देना आदि कोई काम नहीं कर पा रहा इसलिए कहा देवता ही सत्य है ये मानना भी ठीक नहीं कहा तद भक्त हम अपनी चार की टिप्पणी उपासका ही स्वस्व इष्ट देवता प्रसन्न संतो देवताम कराणी निम्नता खंड है उपासकों का क्या काम होता है अपने अपने इष्ट की प्रशंसा करते हुए अन्य देवताओं को निंदा करके हुए खंडन करते हैं वो कुछ नहीं है हमने जो किया वही सही है हमारा देवता ही है दूसरे देवता नहीं है गलत है ऐसा ऐसा इनके खंडन करने का तरीका है उपासक ही स्वस्व इष्ट देवता प्रशंसा अपने अपने इष्ट देवता की प्रशंसा करते हुए शतरंज है देवताम कराणी निंदा अन्य देवताओं की निंदा करते हुए तो शतरंज है खंडन खंडन करते हैं निंदा करते हुए खंडन करते हैं इत एवं विवाद प्रशमने भी इस प्रकार के आपस में भक्तों का जो विवाद हो रहा है उसके समन करने में भी असमर्थ से देवश्य वो जो देवता जो है समर्थ नहीं हो पा रहे ऐसे तत्प्रसाद से अतिरिक्त करता तो उनकी प्रसन्नता भी कोई काम नहीं करेगी जब एक विवाद भी संभाल नहीं पा रहे हैं इसलिए देव को ही सत्य मानते हैं ये भी सत्य है व्यवहार में अलग चीज है ये परमार्थ की बात कर रहे हैं परमार्थ सत्ता को लेकर के बात कर रहे हैं व्यवहारिक देवता है उपासक है उपास्य है सब कुछ है व्यावहारिक सत्ता अलग है तो व्यावहारिक सत्ता की बात है यहाँ जो चल रही बात है पारमार्थिक सत्ता की बात चल रही है अच्छा आगे टीका ऋग्वेद आयो ऋग्वेद आयो वेदा चतवार तत्वानी पाठ का बंधु एक वेद पाठ ही होते हैं अर्थ ज्ञान नहीं है खाली पाठ करते हैं खाली पाठ करने वाले पाठक अर्थ ज्ञान नहीं है जिनको वो कहते हैं ऋग्वेद आदि जो चार हैं वही वास्तविक वस्तु है और कोई नहीं कुछ नहीं है वही चार वेद ही सत्य है तत्व है ऐसा मानते हैं कुछ लोग पाठक लोग ऋग्वेद आदय वेदा चतवार जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद है चार वेद हैं तत्व वही है वास्तविक वस्तु वही है पाठका बदंती पाठका माने पांच की टिप्पणी में कहा अर्थानुसंधान विनय पर केवल पाठ मात्र होता है अर्थ का अनुसंधान नहीं है आप केवल पाठ ही पाठ करते हैं ऐसे लोग वेद को ही सत्य मानते हैं तद भी कल्पना मात्र टीका में कहा वो भी कल्पना मात्र ही है क्यों नहीं वेदा लौकिक परिणतिकता दृष्टि देखो तो वेद माने क्या है शब्द राशि को वेद बोलते हैं शब्द में क्या होता है वर्ण वर्ण के समुदाय को शब्द बोलते हैं यही तो होता है तो वेद कोई लिखित जो अंकित है वो वेद नहीं है वो तो हमारे लिए चिन्ह है वो देखने पर वो शब्द स्फुरित हो जाता है जो शब्द स्फुरित होगा वो वेद है शब्द वेद वेद शब्द है शब्द राशि है तो शब्द किससे होते हैं वर्ण के समुदाय से तैयार होता है तो लौकिक में जैसे क ख ग आदि वर्ण के समुदाय मिलकर के लौकिक व्यवहार बनता है उसी प्रकार वेद में वही शब्द है उसी तरह से वर्ण वही है ठीक है नहीं वेदा लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त दृश्य लौकिक वर्ण जो क ख ग आदि हैं मैं स्वर और व्यंजन दो प्रकार के हैं उससे अतिरिक्त तो वेद में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसी का समुदाय हो गया वर्ण समुदाय से शब्द समुदाय बना शब्द को तो वेद बोलते हैं शब्द राशि को वेद बोलते हैं जो लिखित है वो तो ये तो केवल चिन्ह है जैसे हाथ ऐसा करेंगे तो पता लग जाएगा कुछ बोलना चाह रहे करके ऐसा ऐसा करें तो आव आव करके कल्पना करके वो आता है चिन्ह है इसी प्रकार एक प्रकार चिन्ह है इसको देखने से ख्याल आता है स्मरण होता है शब्द राशि का ख्याल आता है तो लौकिक वर्ण से अतिरिक्त नहीं दिखाई पड़ते वेद क्रमवताम एवं वर्णानाम वेद शब्द वाचित हो गया वेद उसी का नाम है जो क्रमवत है हाँ, जैसे गणपति बोलना होगा तो गकार अकार अकार अकार तकार इकार और विसर्ग ये ये क्रम से होंगे तो गणपति बन जाएगा पहले गकार हो उसके बाद अकार हो फिर रा हो फिर आ हो फिर पा हो फिर आ हो फिर का हो ई हो विसर्ग हो ये क्रम होगा तो गणपति शब्द बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा उल्टा हो जाएगा कर्म बताम वर्णाम जो क्रम वाले वर्ण हैं जैसे गणानाम तो आदि में क्रम है वर्णों का क्रम है वहां चलता है वेद शब्द वाच्य तो हो गया वेद शब्द का वाच्य तो वर्णों का ही कहा है वेद शब्द वाच्य स्वीकार किया है कहा कर्म बताम छह की टिप्पणी कल्पान कल्प कल्पान से अभी तो कर्म वाले तो वेद मानते हैं कल्प कल्प की बातें बा, करेंगे जब ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो गया अब रात्रि हो गई फिर दूसरे दिन आ गया इनको कल्प बोलते हैं तो इस कल्प में भी पहले कल्प की तरह ही बातें होते हैं कहते हैं कल्प कल्पान से पूर्व पूर्व कल्प से कर होता पहले पहले कल्प में जैसे क्रम रहा होगा वैसे इसमें भी ऐसे क्रम से हो जाता है चंद्रा सूर्य मसौधाता यथा पूर्व अकल्प चंद्र सूर्य आदि जैसे पूर्व कल्प में थे तो वो जो परमात्मा उसी प्रकार यहां भी बनाता है वेद भी ऐसा ही है प्रलय में तो वेद भी नहीं थे शब्द राशि भी नहीं था तो जब चंडगरवादी जो पैदा हो गए जिन्होंने उसके बाद पहले पहले क्या किया जैसे पूर्व कल्प में वेद के शब्द समुदाय था वर्णों के ये कर्म वाले वर्णों को मिला करके था वैसे अभी भी बनाया हुआ है कहा कर्म बताना कल्प कल्पांतरेश कल्प कल्पांतरों में भी स्थिति है पूर्व पूर्व कल्प से कर्मता पूर्व पूर्व कल्प कर्म वाले ज्ञान होते हैं ठीक है क्रमश्च उच्चारण उपलब्धि और अन्यतर गत क्रम क्या होता है हम कोई भी एक शब्द बोलते हैं या तो उच्चारण में या शून्य में उपलब्धि में दो में से क्रम होता है या तो उच्चारण में क्रम होगा या उपलब्धि में जो श्रोता है सुन रहा है उसमें क्रम होगा दो में से कहीं एक, एक जगह है क्रम क्रम माने शब्दों का जो वर्णों का क्रम होता है वर्णों वर्ण मिला करके शब्द बनाते हैं शब्द मिला करके वाक्य बनाते हैं यही होता है लोक में हो चाहे वेद स्थिति है तो क्रम कैसे बनता है तो कहा टीका में क्रमश्च उच्चारण उपलब्धि एक उच्चारण करता है दूसरे को उपलब्धि होती है माने वक्ता और श्रोता दो हो रहे हैं वहां गुरु शिष्य भाव में है उच्चारण करने वाला गुरु होगा और उपलब्धि करने वाला शिष्य होगा उच्चारण उपलब्धि और अन्य तरगता यह क्रम दो में से किसी एक में कल्पना की जाती है चाहे उच्चारण करता में करना चाहे उपलब्धि करता में कल्पना करना क्रम की वर्ण के क्रम की वर्ण ऐसु आरोप कहते वो जो है क्रम इधर दो में से किसी में वर्णों में आरोप किया जाता है ऐसा कहा तथा तथाविध वर्णा नाम आरोपित रूप है उस प्रकार से जो क्रम वाले वर्णों का आरोपित होने से वेद शब्द वाच्य आरोप रूप से वेद शब्द वाच्य वेद शब्द का वाच्य बनाया है परमा का कुतो आनाम परमार्थता इसमें वेद में परमार्थता कहा है कहा वेदा आई वेद और दूसरे लोग कहते हैं ज्योतिष तोमारी यज्ञ ही सत्य है यज्ञवादी जो बोलते हैं ज्योतिष तोमारी टोमाद यज्ञ वस्तुभूता भवन दी थी अवंदिति बौद्धायन प्रवृत्त हुई का मंडन थे ठीक है तथा विदा अच्छा ठीक है मूल है वेदा वेद विदो यज्ञा इति तद्विदः भोक्ता इति च भोक्तृविदो वेदा वेद विदो यज्ञ इति तद्विदः भोक्ते च भोक्तृविदो भोज्यम् वेदा वेद विदो जिन्होंने वेद को जाना वो लोग वेद ही है सब कुछ है वेद है ऐसा मानते हैं वही वास्तविक वस्तु कहते और एक एक जो अन्वेषक हैं अन्वेषण करने वाले हैं उन्होंने एक एक ही सब कुछ माना ज्योतिष तुम्हारी तो सब कुछ है ऐसा कहा कहते हैं भोक्ता है कि तदविदा सांख्य लोगों को पूछेंगे तो भोक्ता है ऐसा कहते हैं ये सांख्यों का कहना है सांख्य लोग भोक्ता मानते हैं भोक्ता ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं भक्ति विद्ता होते सांख्य और भोज्य विदिता विदा और एक सुपकार आदि आचार्य हुए हैं खाना पीना यही है जो कुछ है भोज्य ही है वही सार है संसार का सार यही है ऐसा मानने वाले किंतु ये भी सब कल्पना मात्र कहेंगे समय हो गया टीका फिर करें ओम भद्रम करणे भद्रम पश्येम्षा स्थिर दीर्घशेमदेवैकञ्जलायु ॐ शांति